अत्यंत आवश्यकता होने को दयानंद प्रणी ने आर्यासी प्रथम प्रदान से में तमो वर्ग पंचशीते व्याख्या से देता आज महर्षि दयानंद प्रणी आर्यासी में पच्चीसवां मंत्र पढ़ा जाएगा और इसकी व्याख्या की जाएगी प्रशंसा सदैव हो पुरति ब्रह्म संतुराय संसार के धारण करने वाले आप सदा वायु प्राण और सब धन आनंददायक हो सन्ना सत्य सत्य यथार्थ धर्म सुसंयम और जितेन्द्रियादि दक्षिण युद्ध जो प्रशंसा पुण्य स्तुति सब संसार में प्रसिद्ध है वह परमानंद और शांतियुक्त हमारे लिए हो सन्नो अर्यमा न्यायकारी आप गुरु जाता अनंत सामर्थ्य युक्त हमारी कल्याणकारक हो और आप साधन और मंत्रों से हम प्रेरणा लेते हैं से अपने जीवन को हम उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं वेद में ईश्वर ने क्या कहा दिन में और चलते फिरते भी हम शब्दों को दोहराते हैं आवृत्ति करते रहते सन्न भव ईश्वर सन्न भग धन ऐश्वर्य संपत्ति हमारे लिए सुखदायक हो ये कहा इसका भी प्राय क्या लिया जाएगा कि हमारा धन और संपत्ति उस स्थिति में सुखदायक होगी जब हम ईश्वर की अन्य आज्ञाओं का पालन करेंगे इसलिए प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति ये देखता है कि सुखदायक धन संपत्ति मेरे लिए कब होगी वो देखता है धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं मान्यताओं के आधार पर जब मैं अपना व्यवहार करूंगा तब धन संपत्ति सुखदायक होगी ऋषि ने कहा जो न्याय से उपार्जित किया जावे वह अर्थ और जो अन्याय से उपार्जित किया जाता है उसको अनर्थ कहते हैं मनु महाराज ने संकेत दिया सर्वेशा एवं शौचानाम अर्थ शौचम परम समझ जो शुद्धियां हैं आंतरिक शुद्धियों को छोड़ दो भोजन वस्त्र मकान कपड़े आदि आदि ये जितनी बाहर की शुद्धियां हैं उन शुद्धियों में बाहर वाली शुद्धियां में अर्थ धन की शुद्धि इन मोटी बाल की शुद्धियों से सबसे श्रेष्ठ है इस समय वर्तमान काल में मानव जाति इस नियम को भंग कर चुकी है और भंग करती चली जा रही इसलिए कितना धन होने पर भी कितनी संपत्ति होने पर भी महादुखी देखी जाती आप देखेंगे जब वो झोपड़ी वाला था एक कोठरी वाला था मुश्किल से जीविका चलाता था बच्चों को पढ़ा देता था थोड़ा बहुत और घर के काम चलते थे कालांतर में उसने प्रयास किया परिश्रम किया और परिश्रम के साथ साथ कुछ उचित और बहुत सा अनुचित कर डाला और वो लखपति के स्थान पर करोड़पति बन बैठा पहले जब वो झोपड़ी और कोठी एक कमरे वाला था छोटा सा कमरा था उससे क्या कर लेता था ये कर लेता था और सत्संग में चला जाता था स्वाध्याय भी कर लेता था और कुछ चीन खा भी लेता था एक करोड़पति बनते हैं न संध्या करता है न ये हवन करता है न सत्संग में जाता है न गरीबों को देखता है ये स्थिति है तो ये धन संपत्ति उसके लिए सुखदायी नहीं हो सकती निश्चित रूप में दुखदायी इसलिए ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का भंग करता है वो कभी भी संसार में सुखी नहीं होता लोग ये मानते हैं धन संपत्ति का बढ़ जाना बहुत साधन हो जाना साधनों से संपन्न हो जाना अनेक कारखाने खोल लेना आदि आदि ऐसे होने पर व्यक्ति सुखी हो जाता है और आज व्यक्ति का ऐसा ही लक्ष्य बना मिलता है पांच वर्ष का बच्चा बच्ची बालिकाएं आप देख सकेंगे उससे ही प्राय उत्तर मिलेगा क्या बनना चाहते हो डॉक्टर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं जो भी इनका स्थान सबसे पहले बच्चा कहेगा क्यों धन मिलेगा पैसा मिलेगा संपत्ति मिलेगी उन माता पिताओं ने कभी नहीं सिखाया कभी भी नहीं ये कहा कि पढ़ो विद्वान बनो तत्ववेता बनो क्यों ईश्वर की प्राप्ति होगी सिखाया किसी ने ऐसे धन सारे के सारे अधर्म के बढ़ाने वाले मानव को बिल्कुल क्रेशों से पिसवाने वाले कमा लो धन कमा दी जाकर प्याज भी खाए सत्तर वर्ष लगाता है अस्सी वर्ष लगाता है पसीना पसीना हुआ रहता है और जिन बेटे पोतों ने को पढ़ाया लिखाया उनको स्वामी बना दिया वो बूढ़ा होने पर खांसी आग आने लग जाने पर बात जब बांध प्रस्ताव से नहीं जाते बूढ़े को बूढ़िया को बाहर निकाल वो बूढ़िया माता है दूर बैठ गई उनको कुछ कहते तो सीधा फिर भी सुनने की तो सुनने की नींद आ रही होगी तो नहीं सुनेगी <laughs> ये बूढ़िया माता है क्या कहती है घरों में महाराज जी बात तो ठीक है पर क्या बताऊं बताओ कुछ तो बताओ तो मेरे पुत्र पुत्र वधु आदि ये न संज्ञा करते हैं न हमन करते हैं नारी समाज में जाते हैं मैं डरती हुई कहती नहीं बुढ़िया डर रही है कांप रही है वो कहना चाहती है फिर भी नहीं कहती उसको तो भगवान से बड़ी उसकी पुत्र बुध नहीं है <laughs> भाई बूढ़े बूढ़िया कांपते रहती ये इसलिए कांपते हैं ईश्वर की उपासना नहीं करते जो कुछ ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है वो व्यक्ति किसी से नहीं डरता सारा संसार एक और खड़ा रहे गाली देता रहे पत्थर मारता रहे वो डरता ही आनंद में रहता है तो जिस प्रकार से धन संपत्ति अनुचित रूप से उपार्जित उसका उपयोग भी दुरुपयोग आप देखते हो धर्म अर्थ काम काम क्या चीज उस संपत्ति का धन का ऐश्वर्य का उचित उपयोग करना उचित उपभोग करना औरों को भी उचित स्थान पर देना तो क्या है ये काम धर्म अर्थ काम और शराब पीना मांस खाना दुरुपयोग करना ये काम और उस भोग करते हुए उपयोग करते हुए योगाभ्यास अध्ययन सत्संग करता हुआ व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता मोक्ष को प्राप्त करता उसको लक्ष्य मानता तब ये हमारे लिए ऐश्वर्य सुखदायी होता है यदि इसका लक्ष्य भोग बन जाए भोग बना करके लक्ष्य कोई भी व्यक्ति संपत्ति से सुख प्राप्त नहीं करता एक बात इसमें यह कही कि आप अर्यमान न्यायकारी भगवान न्यायकारी ईश्वर न्यायकारी है इस विषय में कई बार व्यक्ति संशय में पड़ जाता है और जब संशय में पड़ जाता है तो उस समय उसमें अनेक मोड़ आते हैं ईश्वर को न्यायकारी न मानने पर जीवन में धड़ाधड़ धड़ाधड़ परिवर्तन होता चला जाता पता नहीं कहां टेकेगा वो इसलिए ईश्वर आर्यमा है न्यायकारी है याद रखिए सारी बातें हम ईश्वर की नहीं समझ सकते किस कर्म का फल किस प्रकार से किस काल में ईश्वर देता है इसको कोई भी नहीं जान सकता क्या समझ में आया इस सारी व्यवस्था को कोई भी नहीं जान सकता सर्वज्ञ की व्यवस्था है सर्वज्ञ की व्यवस्था को अल्पज्ञ इतनी लंबी को कभी नहीं जान सकता हां कुछ ऐसे कर्म हैं कुछ ऐसे हमारे अनुष्ठान है कुछ विद्या है उपास कई चीजों का हम फंस जान लेते पर सबका हमें आजकल की स्थिति इतनी संकट प्रद है आशंका होती है पदे पदे झूठ छल कपट करने वाले व्यक्ति मिलावट करने वाले व्यक्ति उल्टे से उल्टे काम करने वाले व्यक्ति प्रातःकाल से लेकर सायकाल पर्यंत झूठ पर झूठ बोलने वाले व्यक्ति उन्नति करते देखे जाते हैं धन संपत्ति के स्वामी बन बैठे राजगति पर लगभग ऐसे ही लोग मिलेंगे क्या और लोगों को भ्रम हुआ इसको ये भ्रम हुआ अंधविश्वास लोग करने वाले होंगे ये देखो जो गद्दी पर चले गए जितने गद्दी जिन्होंने प्राप्त कर ली वो सब के सब पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर गए ऐसा है क्या नहीं आई बात सुन हम्म? आप मुझे ये बताओ पूर्व जन्म के आधार पर गए या पेटी चुरा के गए फिर यू क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एकाध सज्जन को छोड़ो सब नहीं होते एक जैसे प्राय ये सारे के सारे अन्याय पूर्व अनुचित धन संपत्ति लोगों को दे करके अनुचित भय डर दिखा करके अनुचित मार धाड़ करके ये गद्दियों पर गए हुए हैं वो धर्म का संबंध नहीं है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक को अन्यायकारी मानने वाले जो हो सकते हैं न्यायकारी मानने वाले नहीं नहीं तो वो संशय जो उभर के आता है कि ये मिलावट करने वाले ये झूठ बोलने वाले अनुचित राजगद्दी को प्राप्त करने वाले ये मालामाल हो रहे हैं धनवान हो रहे हैं पता नहीं ईश्वर है या नहीं पता नहीं एक तो यहां और जो और आगे बढ़ के भ्रांति में कहते ईश्वर या सर कुछ नहीं है अपना जैसे हाथ लगो ऐसे हाथ मारो वो <laughs> और आगे बढ़ गए तीसरे कहने लगे तुम ईश्वर का नाम मत लो ईश्वर का नाम लेने वाला कोई राजा नहीं बन सकता भारत में क्या समझे आप वो यहां आप आगे बढ़े ईश्वर का नाम लेने वाला मैं ईश्वर को मानता हूं वो राजा नहीं बन पाता इसलिए सारी की सारी मिथ्या कल्पनाएं बुद्धिमान व्यक्ति समुद्र में से थोड़ा सा जल उठाता है और एक घूट पी लेता है तो क्या देखा उसने खारा और ये हजारों किलोमीटर जो समुद्र कैसा है नहीं कहता मैं सारा पी के देखूंगा जब मानूंगा समुद्र खारा सारी बातें तुझे ज्ञात नहीं हो सकती सारा पानी पी के समुद्र के खारे जल को तू नहीं जानता पेट फट के मर जाएगा ईश्वर की एक बात को जान ले दो को जान ले सारा समुद्र जाने जाएगा हम मनुष्य बन गए ये कुत्ते बेचारे कुत्ते बन गए बिल्ली बिल्ली बन गई चूहा चूहा बन गया मोर मोर बन गया कबूतर कटुर कुटुल कर रहा है ये बन गया ऐसे क्या पता चला बताओ ईश्वर न्यायकारी है सारी बात हम नहीं जान सकते पर यह बात काटे कोई भी व्यक्ति ईश्वर को न्यायकारी माने बिना कबूतर और बिल्ली का जन्म सिद्ध नहीं कर सकता क्या समझ में आया नहीं आया समझ में फिर सुन लो हमने तो सुनाना है वो एक गाया करते थे अपने बचनों सुनाए जाएंगे कोई माने न माने क्या गाते थे सुनाए जाए कोई माने अच्छा न मानने वाले में हो गया मानने वाले में फिर व्यक्ति के मन में शंका देखो जी सुनना भी ठीक है आप बोलते भी ठीक है पर आज समाज में इसका प्रयोग नहीं हो सकता बड़ी समस्या एक के ऊपर एक समस्या पहले सुनने वाले मिलते नहीं जैसे तैसे करके सुनाने के लिए यहां बैठा दें फिर सुन भी लें और याद भी हो जाए फिर कहेंगे जी हम इसको कर नहीं सकते क्यों क्योंकि हम गृहस्थी हैं अब गृहस्थी कितने और जी कितने मुझे बता दो जी कितने होंगे हजारों में अच्छे सन्यासी की बात करो तो भाई सिन्यासी करेंगे जो हजारों में कई करोड़ में एक आधा गृहस्थियों का तो काम रहा तो देखो इन बातों को समझ के हम ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं एक दो घटना को लेके एक दो प्रमाण को लेके ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं और हमारे हृदय में ईश्वर न्यायकारी दिखने लगता है और हमें क्या करते हैं अच्छे से अच्छे काम करते हैं और पूर्ण रूप में विश्वास रखते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और मैं जो बुरे करूंगा तो बुरा भी मिलेगा और ये जो दूसरे लोग नहीं मान रहे आज इनको भ्रम हो गया होगा कि हमको नहीं मिलेगा कदापि ये छूट नहीं सकते ये सारे के सारे पापों का फल भोगेंगे इस स्थिति के व्यक्ति जम के चलता है और टकराता है और विश्व से डरता ही नहीं इसे ईश्वर को मानो जानो और न्यायकारी समझो और धन संपत्ति का उपयोग करो ही कब होगा जब ईश्वर की आज्ञा का पालन हम करेंगे ओम शास्त्र